ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग साथियों आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी हाजिर है अच्छा मैंने आपको वो संगीत सुनवाया था जो कई वर्षों तक गीतमाला रेडियो प्रोग्राम का जाना पहचाना म्यूजिक बना रहा और एक फिल्मी धुन का वो छोटा सा हिस्सा जो कि शुरू शुरू के वर्षों में गीतमाला प्रोग्राम का सिग्नेचर ट्यून हुआ करता था बस तो वैनोर भाइयों नाम लीजिए सिर्फ गीतमाला का और इसकी छाव में आकर इस वॉल्यूम में सुनना शुरू कीजिए गीतमाला में हिट परेड के आने से पहले के कुछ और यादगार गीत जिनका जमाना बहनों भाइयों उसके बाद तो हाय बीत गया मिलके बिछड़ भाई उन गीतों से हम बिछड़े तो सही मगर घबराने की कोई बात नहीं है फिल्मी संगीत का जो सुनहरा दौर शुरू हुआ था ना 1940 के आसपास वो गोल्डन पीरियड जोरों में चलता रहा कम से कम 30-40 वर्षों तक गया और गीत वाला की इस कक्षाओं में खास तौर पर जो प्यारी प्यारी संगीत की मतवाली लड़कियां बैठी हुई हैं ना वो अगर चाहें तो उस जमाने का कोई भी मधुर गीत वो यहाँ बुला सकती हैं फौरन तो मेरी जान बुलाओ ना है क्या कहा मोबाइल फोन साथ नहीं लाई अरे तो क्या हुआ जरा प्यार से अपना पोस्टमैन बना दो चंदा मामा को एक बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार जो लाहौर से बंबई आए थे वो पहली बार हीरो से विलन बने जरा पहचानिए कि ये कौन है दरअसल अगर ये पार्टीशन नहीं होता जी तो कौन कम वक्त आता लाहौर छोड़ गया अच्छा लाहौर बहुत ही खुशनुमा शहर था उन दिनों में अब तो मालूम नहीं जी लेकिन सैतालीस में जबकि ये सब गड़बड़ शुरू हुई हम्म। तो मैं मेरी बीवी मेरा बच्चा उस वक्त एक साल का था अच्छा तो हम लोग बम्बई पहुंचे 14 अगस्त को फोर्टी सेवन हम्म, हम्म, हम्म। यानी जिसको कि इंडिपेंडेंस ईव कहते हैं जी जी लेकिन बात यह कि जब सोचा था कि भाई लाहौर में थोड़ा बहुत नहाम हो गया है तो यहाँ काम तो मिल ही जाएगा लेकिन वैसा हुआ नहीं अच्छा आठ दस महीने यहाँ धक्के खाते रहे और आपको यकीन नहीं आएगा कि एक दफा मैं बॉम्बे टॉकीज गया था हम्म। जहां मुझे उन्होंने कंडम कर दिया था अरे कि इसका चेहरा ठीक नहीं है इसके फेस के ऊपर झुर्रिये हैं और ये है और वो है वहीं से नेक्स्ट डे मुझे टेलीफोन आया हम्म। कि साहब आपको बुलाया बॉम्बे टॉकीज अच्छा तो अमीन साहब आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बाई ट्रेन मलाज जा सकूं हम्म। तो मैं सुबह पहली गाड़ी से गया था कि जहां चेकिंग नहीं हो <laughs> अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक ये पिक्चर बन रही है जिद्दी जिसमें एक छोटा सा विलन का रोल है मैंने कहा ठीक है हम्म। कहने लगे भाई पैसे क्या लोगे हम्म। मैंने कहा आप बोलिए क्या देंगे हम्म। कहने लगे सारी पिक्चर का पांच सौ रूपया यस बनो भाई बिल्कुल सही पहचाना आपने ये शानदार फिल्म स्टार प्राण की आवाज थी स्क्रीन के धमाकेदार विलन मगर जीवन में बड़े खुश मिजाज मिलनसार और शायराना तबीयत के इंसान के इंसान खैर साहब प्राण से मिलने के बाद अब उस जमाने के कुछ और गीतों से मिलिए इस वॉल्यूम में भी मैंने कोशिश तो जरूर की है कि कई सिंगरों की आवाजें इसमें शामिल करूं मगर एक लता की आवाज तो भाई कई बार आएगी ही आएगी क्योंकि 1950s में तो उन्हीं का राज था ना फिल्म संगीत पर बल्कि एक मजे की बात बताऊं आपको एक बार ओपी नैयर ने मुझे बताया था कि देखिए लता की आवाज मेरे गीतों में कभी ना आने की वजह कुछ और थी मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि आशा और गीता और शमशाद अपनी जगह पर लाजवाब हैं मगर Lata has always been number one और फिर आप जानते हैं मरो भाइयों ओपी नैयर ने अपनी ही फरमाइश पर अपने उस इंटरव्यू में लता का ये गीत भी बजवाया बेकरार है बहार परेड आने से पहले के जमाने का गीत था जिसे आज गीत माला की छाओ में आप सबके साथ बैठकर सुनने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है साहब मगर उन दिनों अगर देखा जाए तो मेरे सभी मजे बंद थे मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं गीत गीतमाला का कैदी बन गया हूँ और गीतमाला मुझे डांट कर कह रही है अबे ओ अमीन बस बैठा रहे दफ्तर में दिन रात और गीतमाला कंपटीशन के लिए आती हुई चिट्ठियां चेक किया कर हैं तेरे सब गुलछर्रे सब पिकनिक पार्टियां बंद और तू जो इधर उधर भाग भाग कर क्लासिकल संगीत की महफिलें अटेंड किया करता है ना वो भी एकदम बंद एकदम <laughs> हाँ दोस्तों मुझे सचमुच शास्त्रीय संगीत का भी बड़ा शौक था स्कूल में तीन चार बरस मैंने पक्का गाना सीखा भी था जी हाँ मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले जब मेरी आवाज फटी ना तो फिर गाने वाने के लिए कभी जोड़ी ही नहीं <laughs> तो भाई जब मेरा गाना बंद हो गया तो मैंने संगीत सुनना जोरों में शुरू कर दिया खास तौर पर फिल्मी गीत सुनना गीत वाला के सिलेक्शन के लिए और सुनते सुनते साहब एक बार एक बड़ा अनोखा सा ड्यूएट कानों से टकराया जिसमें के जख्मों पे मेरे प्यार कमर मरहम रख दो दिल के जख्मों पे मेरे प्यार कमर मरहम रख दो बेकरारी बद जाने के सजल ही को न प्यारा जाए हाथ सीने से जो रख दो तो करा जाए दिल के गुजरे पूरे गुलशन में बहारा जाए अच्छा साहब इस गीत में जो जनाना आवाज थी वो नूर जहाँ की थी आप तो जानती हैं और नूर जहां ही वो गायिका थी जिनके स्टाइल से लता मंगेशकर बहुत प्रभावित हुई थी ये लता जी ने खुद मुझे बताया है मगर इस गीत के जो मेल गायक थे ना उनकी आवाज का असर आप जानते हैं किन पर बहुत जोरदार तरीके से हुआ था अजी खुद मोहम्मद रफी पर हम्म, मगर उसके बाद रफी तो साहब बहुत आगे बढ़ गए और छा गए संगीत की दुनिया पर मगर वो गायक जिनका नाम था जी एम दुर्रानी उन पर लोकप्रियता की यानी मकबूलियत की धूप बस कुछ साल तक पड़ती रही और फिर ढल गई वैसे दुर्रानी साहब बोलने में भी बहुत उत्साह थे और ऑल इंडिया रेडियो के ड्रामों में कई वर्षों तक उनकी आवाज सुनाई देती रही की आवाज सुनाई खैर साहब अब जरा गीतों की लोकप्रियता के एक और पहलू पर नजर डालिए देखिए फिल्मी गीतों को यादगार और सफल बनाने में फिल्म के डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है जी हाँ डायरेक्टर अगर फिल्म शानदार बनाए तो संगीत में और चार चांद लग जाते हैं और अच्छी फिल्में देने और उनमें हमेशा अच्छा संगीत संवारने वाले एक गजब के डायरेक्टर थे हमारे राज कपूर जिनके डायरेक्शन का दौर शुरू हुआ था किस फिल्म से आग से और उस पहली फिल्म के बनने के बारे में मुझे एक बड़ी मजेदार बात बताई थी खुद राज कपूर की गाती हुई आवाज के मालिक मुकेश ने अमीन भाई राज हमेशा बड़े ऊंचे फैसले करते थे बहुत ही ऊंचा डिसीजन लिया करते थे और उस पर अमल किया करते थे बहुत खूब अच्छा ये बताइए मुकेश भाई कि आग कैसे शुरू हुई अमीन भाई एक दिन हम रंजीत स्टूडियो में बैठे थे जी हजरत के पास एक टूटी फूटी गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों में तो उसमें बिठाया हमें और ले गए बहुत दूर जगह वहां जाके हमें फैसला सुनाया कि भाई हम फिल्म आग बनाना चाहते हैं हम्म। तो कुछ सीन भी सुनाए सीन तो पसंद आए ही थे मगर मुझे जो ज्यादा बात पसंद आई वो थी कि जिस जोश के संग वो बनाना चाहते थे आग को अच्छा अच्छा अच्छा जी हाँ वो जोश मुझे बहुत पसंद आया लेकिन मुकेश भाई सुना है आग बनाते हुए तकलीफें काफी आई थी तकलीफें अमीन भाई कोई अंदाजा नहीं लगा सकता पैसे की तकलीफें डेटों की तकलीफें यानी फिल्म बनाने में जो जो तकलीफें आ सकती हैं एक प्रोड्यूसर को उसकी इंतहा थी राज कपूर की ओहो और जब फिल्म बन गई तो कोई खरीदार नहीं अरे खरीदार आए तो हमारी मजाक उड़ाया करें यानी यहां तक एक साहब ने तो फरमाया कि राज साहब अगर आग आपने बनाई है तो थिएटर भी आप अपना ही बना लीजिए ताकि आग लगे तो आप ही के थिएटर में लगे जिंदा तरह के हमें जिंदगी नहीं जलता हुआ दिया मगर रोशनी नहीं जिंदा हुए तरह के हमें जिंदगी जलता हुआ दिया हूँ मगर मजाल है दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं जिंदा हुए तरह के गमे ये चांद ये हवा ये फजा सब है मान मान ये चांद ये फजा सब है मालूमा जब तू नहीं कोई तो न कोई दिलकशी नहीं जिंदा हुए तरह के हमें जिंदगी नहीं जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी सचमुच बुरी तरह हो गई फेल मगर आग के बाद जो बरसात आई ना तो आर के का बैनर फिल्म ब फिल्म बस ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया ही ऊंचा होता लेकिन बहरौर भाई अफसोस के आर के की जोरदार टीम में से अब तो करीब करीब सभी नहीं रहे इस दुनिया में न वो हीरोइन न दो संगीतकारों और गीतकारों की जोड़ियां न खुद राज न राज की गाती हुई आवाज़ और उन सब के जाने से पहले भी और कुछ कुछ बाद में भी जरा याद कीजिए कि संगीत की दुनिया के कैसे कैसे और महान लोग भी एक एक करके चले गए अच्छा साहब अब आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी झलक एक ऐसे गीत की जो ज्यादा नहीं चला था मगर उसे स्क्रीन पर उस जमाने की जिस जरा नई सी हीरोइन ने गाया था वही हीरोइन आपसे मिलने वाली है इस झलक के बोलने के बाद बोल